सिंडरेला एक दफा का जिक्र है एक अमीर आदमी की बीवी बीमार हो गई और जब उसको अपना आखिरी वक्त करीब नजर आया तो उसने अपनी इकलौती बेटी सिंडरेला को अपने पलंग के नजदीक बुलाया प्यारी बेटी जब मैं नहीं रहूंगी तो अच्छे और नेक काम करना खुदा तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे और मैं जन्नत से तुम्हें देखा करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और चल बसी वो रोजाना अपनी माँ की कब्र पर जाती और खूब रोती सिंड्रेला का बाप अक्सर काम के सिलसिले में सफर पर रहता था बाप ने फिर से शादी का सोचा ताकि सिंड्रेला का कोई ख्याल रख सके एक बेवा से शादी कर ली जिसकी दो छोटी बेटियां थीं। सिंड्रेला अपनी मकार सौतेली माँ और दो बेरहम सौतेली बहनों के साथ रहती थी वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी वो घर की नौकरानी बनकर रह गई घर के तमाम काम करना उसकी जिम्मेदारी बन गए एक दिन सिंड्रेला झाड़ू लगा रही थी और उसकी दोनों बहनें सोफे पर बैठी ललचाती हुई फल खा रही थीं। एक बहन ने खाने के बाद छिलके फर्श पर फेंक दिए <laughs> सौतेली माँ बैठक में दाखिल हुई और गंदा फर्श देखा सिंड्रेला फर्श को ठीक से साफ करो काहिल लड़की कोई काम कर सकती हो ठीक से जी अम्मी मैं अभी कर देती हूँ माफ कर दे सिंड्रेला से खाना पकवाया और बर्तन धुलवाए जाते थे अम्मी मुझे कुछ खाने को मिल सकता है जब हम खा चुके तुम हमारा बचा हुआ खा लेना आ, अब ये ड्रामा बंद करो जाओ पहले बर्तन धो सिंड्रेला सारे बर्तन समेटती और उनको धोती उसको खाने में सुलाया जाता हर रात वो रोते हुए भूखी सोती चूहे और परिंदे सिंड्रेला की हालत इजार देखकर उस पर अफसोस करते और यूं उसके दोस्त बन गए एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत देने का फैसला किया और पूरी बस्ती को बुला लिया बादशाह चाहता था कि उसका बेटा एक हसीन लड़की को शादी के लिए मुंतखब करे बादशाह ने तमाम कुंवारी लड़कियों को पैगाम भेजा कि वो रक्स के लिए शाही महल तशरीफ लाएं। बादशाह सलामत की तरफ से तमाम रियाया को खबर हो आने वाले हफ्ते की शाम शाही महल में कजीम शान रक्स का इनका किया जाता है और इस मौके पर बादशाह सलामत शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब करेंगे सब लोग खुशी से झूम उठे सिंड्रेला भी बहुत खुश थी और वो भी हमेशा से महल देखना चाहती थी सिंड्रेला की बहनें आलीशान शाही रक्स की तैयारी बहुत उजरत से कर रही थीं। चलो बच्चियों दावत में चलने की तैयारी करो मैं चाहती हूँ शहजादा किसी एक से शादी करे और तुम सिंड्रेला इन दोनों की तैयारी में मदद करो दोनों शहजादियाँ लगे इन दोनों में से एक की शादी जल्दी शहजादे के साथ होगी अम्मी शहजादा मेरे साथ ही शादी करेगा सिंड्रेला मेरे बाल बनाओ और तैयारी में मदद करो नहीं सिंड्रेला पहले इधर आओ मैं शहजादे से शादी करूंगी सिंड्रेला बहुत हमदर्द थी उसने दोनों बहनों की मदद की काश मैं भी वहाँ जा सकती मैं भी चलूं मुझे महल देखना है और मैं रक्स में भी शामिल होना चाहती हूँ ना हरगिज नहीं <laughs> देखो अपने आप को कपड़े तक नहीं तुम्हारे पास पहनने को सब तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की सौतेली माँ और बहनें सिंड्रेला को अकेला घर रोता छोड़ गयी <laughs> सिंड्रेला को अपनी सगी माँ की शादी का जोड़ा याद आया जो फट चुका था उसने वो सीना शुरू कर दिया उसके दोस्त परिंदे और चूहे उसकी मदद करने लगे इसमें तो बहुत देर लग जाएगी और उस वक्त तक तो महफिल भी खत्म हो चुकी होगी अचानक एक परी नमोदार हुई मत रो मेरी बच्ची तुम्हें भेजूंगी दावत पर है आप कौन हैं और ये कैसे होगा ये कपड़े सब फटे हुए हैं और मेरे पास कोई भी जोड़ा नहीं पहनने के लिए परेशान मत हो प्यारी बच्ची अंतर मंतर छू सिंड्रेला के पुराने कपड़े नए खूबसूरत लिबास में तब्दील हो गए और पाँव की तरफ इशारा होने से शीशे के जूते नमूदार हुए उसके दोस्त परिंदे और चूहे कद्दू पर उछल रहे थे अंतर मंतर छू परी ने कद्दू को एक खूबसूरत बग्गी बना दिया चूहे घोड़ा बन गए और परिंदा टांगा बांध बन गया लेकिन प्यारी परी मेरी सुतेली बहने और सुतेली माँ भी वहाँ होंगी वो खफा होंगी मुझे वहाँ देखकर परेशान ना हो मैं उनको तुम्हें नहीं पहचानने दूंगी शुक्रिया प्यारी परी आप बहुत अच्छी हैं मगर मेरी बेटी याद रहे ये जादू सिर्फ आधी रात तक कायम रहेगा याद से उससे पहले घर आ जाना ओह जी प्यारी परी मैं ख्याल रखूंगी उसने हाथ हिलाकर खैराबाद कहा और शाही रक्ष की तरफ चल पड़ी वो जैसे ही दीवाने रक्स में दाखिल हुई तमाम लोग उसे देखने लगे सौतेली माँ और बहने उसे पहचान ना सकी कितनी हसीन है ये खूबसूरत शहजादा उसे देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया वो उसके पास आया ए हसीना क्या मैं आपके साथ रक्स कर सकता हूँ जी जरूर शहजादे ने किसी और के साथ रक्स नहीं किया उसकी निगाह सिंड्रेला पर से हटती नहीं थी सिंड्रेला ने तमाम रात शहजादे के साथ रक्स किया और वो तकरीबन भूल गई कि आधी रात होने वाली है उसे एकदम परी की बात याद आई और घड़ी की तरफ देखा ओह, मुझे अब घर जाना चाहिए लेकिन अभी तो जब वो भाग रही थी तो एक शीशे का जूता पांव से उतर गया और उसके पास वक्त नहीं था उठाने के लिए और उसने देखा कि शहजादा उसके पीछे भाग रहा था वो जल्दी से बग्गी में बैठी और चल पड़ी शहजादे ने जूता देखा और उठा लिया वो भाग क्यों गई बारह बजते ही बग्गी कद्दू में बदल गई और वो छोटा रास्ता लेते हुए घर की तरफ दौड़ी और आखिरकार घर पहुंच गई मैं उसे ढूंढूंगा चाहे मुझे पूरा मुल्क क्यों ना तलाश करना पड़े मैं उस लड़की से हर हाल में मिलना चाहता हूं शहजादा उसे मिलने के लिए इतना बेचैन था कि वो अपने आदमियों के साथ उसे हर घर में तलाश करता रहा हर घर की हर लड़की को जूता पहनाने की कोशिश हुई मगर जूता किसी को पूरा न आया वो आखिरकार सिंड्रेला के घर पहुंचे खुश आमदीद जहाँ पना मोहतरमा क्या आपके घर में कोई लड़की है जो शाही रक्स पे आई थी पिछली रात मेरी दोनों बेटियां दावत में शरीक थी अपनी बेटियों को बुलाइए उन्हें ये जूता पहनाना है हम एक लड़की को तलाश कर रहे हैं जिसने ये जूता पहना हुआ था ओह शायद मेरी किसी एक बेटी ने ये जूता पहना हो मैं बुलाती हूँ उन्हें दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की लेकिन जूता उन्हें पूरा ना आया क्या और कोई भी घर पर है ओह नहीं नहीं मेरी तो सिर्फ दो बेटियां हैं सौतेली माँ ने सिंड्रेला को ऊपर कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो जूता ना पहन सके हमें पूरे घर की तलाशी लेनी है जल्द ही एक आदमी को ऊपर का रास्ता नजर आया और दरवाजा बंद था क्या यहाँ कोई मौजूद है सौतेली माँ उसके पीछे पीछे चल पड़ी ना नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं जहाँ बना आपको अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं वो ताला तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गया एक लड़की को खिड़की के करीब बैठा देखकर वो बहुत हैरान हुआ इधर एक लड़की मौजूद है शहजादा और उसके आदमी उसके करीब जमा हुए और उसे जूता पहनाने की कोशिश हुई और जूता सिंड्रेला के पैर में आ गया सौतेली माँ देख कर हैरान रह नहीं, नहीं, नहीं। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई क्या नाम है तुम्हारा सिंड्रेला उसने फौरन अपने घुटने के बल झुकते हुए उसका रिश्ता मांगा सिंड्रेला मेरे साथ शादी करोगी हाँ शहजादे ने उसका हाथ थामा और बोसा दिया और सिंड्रेला को अपने साथ महल ले आया बादशाह और मलका सिंड्रेला से मिलकर बहुत खुश हुए उन्होंने शादी तय करने के लिए सिंड्रेला के वालिद को पैगाम भेजा सिंड्रेला और शहजादा शादी के बाद हमेशा हंसी खुशी रहने लगे